शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने नुकोमती के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है वहां से पश्चिम नुकुमती के तट पर जो सोमनाथ महादेव हैं उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरा स्तवन किया जो यज्ञ का मूल तुम्बे के तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा सुकोटी ब्राह्मणों में स्थित है ब्राह्मणवर्ती देव समूह भी जिसका परिणाम नहीं जानता महेश्वर की वह कोई महामहिमा लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे जो अजन्मा पुराण उपेंद्र विष्णु के भी वंदनीय है तथा बड़े-बड़े राजाओं से सेवित हैं चंद्रमा सूर्य और अग्नि के समान जिनके नेत्र हैं जो अपनी ध्वजा से वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो सबके एकमात्र ईश्वर देवताओं के एक ही बंधु योग से प्राप्त होने वाले संपूर्ण शिव के निवास स्थान विस्मयक आधार अनंत शक्ति संपन्न ज्ञान जनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं अथवा जिनमें धीर्य आदि गुणों की अधिकता होती है उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके हाथ में पिनाक पास अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं जो मस्तक पर जटाजुट धारण करते हैं जिनके शब्द चारणों की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है जिनके संपूर्ण अंगों की कांति सपटिक मणि के समान उज्जवल तथा काठ में नीला नीला चिन्ह है जो शस्त्र मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके संत पुरुष अक्षर निर्गुण अप्रमेय ज्योतिर्मय एवं दुर्गम क्रम दूर गमन करने वाले जानने योग्य अनिध्य सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा परम पवित्र बतलाते हैं उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका स्वरूप तेज पूंज के समान है जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाता है जिनके जिनके भयानक मुख स्फुरित होता है जो काल के भी काल मनोवांछित फलों के दाता आसक्ति रहित धर्मानुसन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है उन भगवान रुद्रदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जो इंद्रिया विश्वास पालन शत्रु विजयी तीनों गुणों से परे अजन्मा निर्ही तपोमय वेदमय प्रजापालक तथा अनेक नाम वाले इंद्र रूप हैं उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर योग योगवेता मुनीश्वर सदा जिनका ध्यान करते हैं जो संसार बंधन के काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम भूख बल प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त जी ने समुद्र को भी पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ देव वरंद शंभो मुझे अनाथ उद्धार कीजिए मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए प्रभु आप कृपालु एवं करुणामय है उमेश दुख सागर में डूबे हुए मुझे दीन का उद्धार कीजिए भव आपका सबका कल्याण करने वाले हैं मेरा भी कल्याण कीजिए जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता स्वर्ग में इच्छा अनुसार विहार करते हैं उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति उन्हीं का गुणगान उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद दिव तथा दिगपाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद ये तीन वर प्रदान किए कहा स्थान पर तुम्हारा ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है उसका जो पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा उसके यहाँ सात पीढ़ियों तक लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी भद्रकाली कुबेर ऋषितोया नदी श्रृंगालेश्वर तथा गुप्त प्रयाग का महात्म्य महादेव जी कहते हैं पार्वती कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तु को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है उसे सौभाग्य विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान है जो पश्चिम तिथि को भक्ति भाव से गंध पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है वह कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है उसके पूर्व भाग में बालकेश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है कुबेर स्थान से दस कोस की दूरी पर पुष्कर नामक तीतर है उसमें तीर्थ है उससे अग्निकोण में चौदह कोस दूर देवकुल नामक स्थान है जहाँ देवताओं का समागम हुआ है उसके पश्चिम भाग में ऋषितोया नदी है ऋषितोया नदी है जो समस्त पातकों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है जो मनुष्य इसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता वह सत्तर हजार वर्षो तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है इतना ही नहीं उसे सात जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है पर परम पवित्र देव दारुवन में सहस्त्र ऋषि निवास करते हैं वे सभी प्रतिदिन प्रतिदिन बावली कुआ और तड़ाग आदि में स्नान करते वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए उनके पुत्र पुत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुकवन में सब और फैलकर रहने लगे एक दिन उन सब ने एकत्रित होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्म लोक में चलकर ब्रह्म जी की प्रार्थना करेंगे जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्म जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे ऋषि बोले ओमकार स्वरूप आपको नमस्कार है संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार-बार नमस्कार है समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है पितामह आपको नमस्कार है सूर्य ज्येष्ठ आपको नमस्कार है उन ऋषियों के इस प्रकार स्तवन करने पर लोग पितामह ब्रह्म जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले विप्रवरो तुम्हारा स्वागत है मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ तुम कोई उत्तम वर मांगो ऋषियों ने कहा श्रेष्ठ आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशनी नदी प्रदान कीजिए उनके यो कहने पर ब्रह्म जी ने वह मूर्तिमती नदी की ओर दृष्टिपात किया उन्हें देखकर फिर कमंडल की ओर दृष्टि डाली तब वे सभी नदियां उनके कमंडलों में प्रवेश कर गई ब्रह्म जी बोले महर्षियों ये सब महापुण्यमयी नदिया कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडल में प्रविष्ट हुई है यदि इनमें से किसी एक को भेजू तो औरों के मन में क्रोध होगा अतः इस कमंडल में स्थित सभी नदियों में दारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ यो कहकर ब्रह्म जी ने उन सब को छोड़ दिया और कहा मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तो रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषियोत्रा नाम से प्रसिद्ध होगी इस प्रकार देवदारु वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है पूर्व वाहिनी ऋषितोया नदी जहाँ समुद्र में मिली है वहाँ जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं वह प्रातः काल गंगा पूर्व काल काल में यमुना मध्य काल में सहस्त्र नदियों के साथ सरस्वती अपरह काल में नर्मदा तथा साय काल में सूर्यपुत्री तथा तप्ती नदी बहती है यो जानकर जो विद्वान उसमें स्नान करता और विधिवत श्राद्ध करता वह उसके फल का भागी होता है ऋषि तोया के पश्चिम दो कोस दूर श्रृंगालेश्वर लिंग है जो सर्व पातकों का नाश करने वाला है वहाँ गुप्त प्रयाग माधवी देव तथा गंगा यमुना और सरस्वती है वहाँ स्नान जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है वहाँ ब्रह्म कुंड विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड है इनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है ब्रह्म कुंड में एक करोड़ वैष्णव कुंड में भी एक करोड़ और रुद्र कुंड में भी डेढ़ करोड़ है पश्चिम में ब्रह्म कुंड पूर्व में वैष्णव कुंड है और मध्य भाग में रुद्र कुंड है जहाँ जहाँ कुंड के मध्य भाग से गंगा जी निकलकर सूर्य पुत्री यमुना से मिली है वहाँ संगम कहलाता है इस प्रकार इन दोनों के सूक्ष्म उत्तर में अंतर में गुप्त सरस्वती की स्थिति मानी गई है तथा उनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है जो मन मनुष्य माघ मास में सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्य काल में सूर्य काल में यहाँ आकर स्नान करता वह एक स्नान से मानसिक द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है